شاء होते जड़ जड़ता से पापों से जब जब नभ की गरिमा गिरती अविवेकी अभिशापों से जब जब आंखें अंधी होकर अपने पर रोया करती जब जब मन ही गल जाता है सुलग रहे संतापों से तब कोई मधुगायन गाता है अस्तोमा सतगमे जब जब कालिक फुट जाती है दिवाली के माथे पर दिशा दिशा पर निशी छा जाती है खो जाती है डगर डगर गलियां तो लुट जाया करती सड़कों पर डांके पड़ते घर घर दीवाला हो जाता हो जाता नीलाम नगर तब कोई गायन गाता है तमसोमा ज्योतिर्गमे जब जीवन मरुथल बन जाता मर जाता प्यासा प्यासा अब अनव्याही रह जाती है निर्धन कुरी अभिलाषा लोहे की बेड़ी बन जाते शीशे के कंगन चूड़ी हाथों से मेहंदी उड़ जाती तज जाती आशा आशा तब कोई गायन गाता है मृत्योर माँ अमृतम गमे बुद्ध अनूठे ध्रुव तारे तारे तो बहुत लेकिन ध्रुव तारा एक है बुद्ध ध्रुव तारे जैसे उनके साथ मनुष्य की चेतना के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ कृष्ण ने जो कहा वो पहले से कहा जाता रहा था उसमें नया कुछ भी न था क्राइस्ट ने जो कहा वो पुराने की ही नई व्याख्या थी व्याख्या नई थी लेकिन सत्य पुराने थे अति प्राचीन थे महावीर ने जो कहा उसे महावीर के पहले तेईस और तीर्थंकर दोहरा चुके थे जोड़ा बहुत जोड़ा लेकिन नए का कोई जन्म न था बुद्ध के साथ कुछ नए का जन्म हुआ बुद्ध के साथ एक क्रांति उतरी मनुष्य की चेतना में उस क्रांति को समझना जरूरी है तभी हम बुद्ध के वचनों को समझ पाएंगे ये वचन साधारण नहीं है ये क्रांति का उद्घोष है तुम बुद्ध को औरों के साथ मत गिन लेना हिंदुओं ने बुद्ध को अपने दस अवतारों में गिना है बौद्ध भी सोचते हैं कि ये बुद्ध के प्रति बड़ा सम्मान हिंदुओं ने प्रकट किया मैं नहीं सोचता क्योंकि बुद्ध को दस अवतारों में गिनना बुद्ध के ध्रुव तारे पर चोट करनी बाकी जो हिंदुओं के नौ अवतार हैं उनमें से किसी ने भी नए को कोई सूत्रपात नहीं दिया है कोई क्रांति उनसे प्रारंभ नहीं होती उन्होंने शाश्वत सत्य दोहराए वे बहुमूल्य पुरुष थे पर अनूठे नहीं उनसे परंपरा को बल मिला लेकिन क्रांति का जन्म नहीं हुआ इसलिए बुद्ध को किसी दस के साथ जोड़ना बुद्ध का अपमान सम्मान नहीं बुद्ध अकेले न उन जैसा उनके पहले है कोई न उन जैसा उनके बाद है कोई उनके अकेलेपन में ही उनकी खूबी उनकी विशिष्टता यही है क्या क्रांति बुद्ध मनुष्य की चेतना में ले आए समझे पहली बात बुद्ध के साथ धर्म ने वैज्ञानिक होने की क्षमता जुटाई बुद्ध के साथ धर्म वैज्ञानिक हुआ बुद्ध के साथ विज्ञान की गरिमा धर्म को मिली इसलिए ये आकस्मिक नहीं है कि आज विज्ञान के युग में जब राम ठीके पड़ गए हैं और क्राइस्ट के पीछे चलने वाले भी औपचारिक ही क्राइस्ट का नाम लेते महावीर की पूजा भी चलती है लेकिन बस नाम मात्र को काम चलाओ बुद्ध की गरिमा बढ़ती जाती जैसे जैसे विज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है मनुष्य के आंखों में वैसे वैसे बुद्ध की गरिमा बढ़ती गई है बुद्ध की गरिमा एक क्षण को भी घटी नहीं है और तो सत्पुरुष पुराने पड़ गए मालूम पड़ते हैं बुद्ध ऐसा लगता है कि अब उनका युग आया या शायद अभी भी नहीं आया है आने वाला है पग ध्वनि सुनाई पड़ती है कि बुद्ध का युग करीब आ रहा है चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो चाहे बर्टन रसल चाहे जियापाल सात्र चाहे कार्ल जेस्पर्स पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी जो क्राइस्ट के सामने झुकने में बेचैनी अनुभव करते उनके सिर भी बुद्ध के सामने झुक जाते बटन रसल ने लिखा है कि मैं ईसाई घर में पैदा हुआ और ईसाई धारणा में पाला पोसा गया लेकिन उससे मैंने छुटकारा पा लिया एक बड़ी अनूठी किताब लिखी है why I am not a Christian मैं ईसाई क्यों नहीं और सारे तर्क दिए हैं कि जीसस का व्यक्तित्व अवैज्ञानिक है इसलिए मैं ईसाई नहीं हो सकता लेकिन बटन रसल ने भी कहा बुद्ध के साथ बात कुछ और है बुद्ध को इंकार करना मुश्किल है क्योंकि बुद्ध ने अवैज्ञानिक कोई बात ही नहीं कही बुद्ध ने एक शब्द नहीं उच्चारा जिसे तुम तर्क से खंडित कर सको बुद्ध ने एक बात नहीं कही जो बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरती हो इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध बुद्धि पर चुप जाते बुद्ध बुद्धि के पार जाते लेकिन बुद्धि का सहारा लेकर जाते हैं बुद्धि के विपरीत नहीं विरोध में नहीं ये बुद्धि की पहली क्रांति है बुद्ध कहते हैं बुद्धि की भी सीढ़ी बना लेंगे इस पर चढ़ेंगे सत्य बुद्धि के पार है लेकिन बुद्धि विरोधी नहीं एंटी इंटेलेक्चुअल नहीं सुपरा इंटेलेक्चुअल है इसलिए बुद्धि को छोड़ने की जरूरत नहीं है सत्य को पाने के लिए बुद्धि को परिमार्जित निखारने की जरूरत है शुद्ध करने की जरूरत है अगर बुद्धि शुद्ध ना हो तो जहर है शुद्ध हो जाए तो अमृत है बुद्ध बुद्धिवादी है यद्यपि उनकी बुद्धि बुद्धि के पार जो है उसकी तरफ इशारा करती इसलिए कोई बुद्धवादी कोई बुद्धिवादी बुद्ध को इंकार नहीं कर सकता है बुद्ध ने जानते हो भगवान की बात ही नहीं की ईश्वर की बात ही नहीं की परमात्मा का नाम ही नहीं लिया नहीं कि बुद्ध को पता नहीं है बुद्ध को पता ना होगा तो किसको पता होगा लेकिन ये नाम लेना भी अबौद्धिक मालूम पड़ता है इसका प्रमाण नहीं जुटाया जा सकता अगर कोई पूछे कहाँ है ईश्वर तो कैसे प्रमाण जुटाओगे तो बुद्ध ईश्वर की बात छोड़ दिए लेकिन अप्रमाणिक बात कहने की उन्होंने भूल नहीं की ईश्वर के संबंध में चुप रह गए ध्यान की बात कही क्योंकि वे जानते हैं जो ध्यान में उतरेगा वो एक दिन ईश्वर को जान ही लेगा ईश्वर की बात ही क्या करनी स्वाद ही ले लेगा उस दिन डोल जाएगा उस दिन मस्त हो जाएगा लेकिन जब तक स्वाद नहीं लिया है तब तक कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की बात करके ही रुकावट पड़ जाए तुमने देखा बहुत लोग ईश्वर के कारण ही धार्मिक होने से रुके क्योंकि ईश्वर में भरोसा नहीं आता तो धार्मिक कैसे हो बुद्ध ने नास्तिक को भी धार्मिक होने का मार्ग खोला ये अपूर्व क्रांति है बुद्ध ने कहा नास्तिक हो ठीक है भले हो आओ क्योंकि ध्यान करने में तो नास्तिक को भी क्या बाधा हो सकती है और ध्यान रखना जब बुद्ध कहते हैं ध्यान तो उनका वही अर्थ नहीं होता जो दूसरों का होता है जब मीरा कहती है ध्यान तो उसका अर्थ होता है कृष्ण पर ध्यान किसी पर ध्यान जब बुद्ध कहते हैं ध्यान तो वो कहते हैं जब तक कोई तुम्हारे चित्त में है तब तक ध्यान ही नहीं न कृष्ण न राम न अल्लाह जब तक तुम्हारे चित्त में कोई है तब तक चित्त है तब तक कैसा ध्यान तो ध्यान का अर्थ है चित्त से शून्य हो जाना विचार से शून्य हो जाना किस पर ध्यान बात ही गलत है ध्यान एक अवस्था है निर्विचार की ध्यान एक अवस्था है जब तुम बिल्कुल अकेले हो एकाकी अकेला तुम्हारा चैतन्य बचा निर्विकार जरा भी बादल न रहे आकाश बचा कोरा आकाश निरभ्र आकाश तब ध्यान इस ध्यान को तो नास्तिक भी कर सकता है इस ध्यान के लिए कोई भी श्रद्धा जरूरी नहीं बुद्ध ने एक नया शब्द कहा शोध श्रद्धा नहीं शोध खोज श्रद्धा का अर्थ होता है खोजने के पहले मान लो श्रद्धा का अर्थ होता है मानना पहले खोजना बाद में लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर पहले मान ही लिया तो खोजोगे कैसे फिर तो मान्यता की बाधा बन गई खोज का तो अर्थ है आंख खाली हो कोई मान्यता ना हो न पक्ष न विपक्ष खोज का तो अर्थ होता है इतना ही बोध हो कि मुझे पता नहीं और मैं पता करना चाहता हूं तुम अगर आस्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर है मेरी श्रद्धा है नास्तिक से पूछो तो वो कहता है ईश्वर नहीं है ये मेरी श्रद्धा है आस्तिक और नास्तिक दोनों श्रद्धालु एक ईश्वर के होने को मानता है एक ईश्वर के न होने को बुद्ध कहते हैं दोनों धार्मिक न रहे धार्मिक का तो अर्थ है कि आदमी कहेगा मुझे पता नहीं है मैं अंधेरे में खड़ा हूं खोजना है जब तक खोज ना हो जाए तब तक कैसे कहूं कि ईश्वर है या नहीं है खोज हो जाएगी पूरी तब कहूंगा निष्पत्ति तो बाद में आएगी यही तो विज्ञान की प्रक्रिया है विज्ञान की प्रक्रिया के ये चरण है पक्षपात रहितता धारणा शून्यता अवलोकन ऑब्जर्वेशन लेकिन अवलोकन तो हो ही नहीं सकता अगर तुम पहले से ही मान के चले हो तब तो तुम वही देखते रहोगे जो तुम देखना चाहते हो तब तो तुम्हारी आंखें तुम्हें वही दिखाती रहेंगी जो तुम देखना चाहते हो असंभव है मैंने सुना है कि मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे बहुत परेशान हो गई शराब और शराब और शराब कोई उपाय न दिखे उसे शराब से छुड़ाने का तो उसे एक सूझ आई मुल्ला रात लौटता है शराब पी के घर तब करीब का रास्ता मरघट से होकर गुजरता है तो रात के नशे में डर इत्यादि तो खो ही जाते हैं नशे में किसका क्या हो उसके मरघट है कि क्या तो वो करीब के रास्ते से घर आता दिन में तो मरघट से नहीं निकलता है दिन में तो लंबे रास्ते से मधुशाला जाता है लेकिन रात जब पी चुकता है तो फिर वो कब्रों को ही टकराता हुआ कब्रों पे गिरता हुआ घर लौटता तो उसे एक सूझ आई पत्नी को कि अब और तो कोई उपाय नहीं है तो कुछ ये तरकीब की जाए वो एक रात जाके कब्र के पीछे छिप गई काला कपड़ा पहन लिया मुंह पे कालेख लगा ली भूत बन के छिप गई कि शायद घबरा जाए डर जाए तो उसी डर में घबराहट की हालत में से वचन ले लेना जरूरी है जब मुल्ला वहां से निकला लड़खड़ाता हुआ तो एकदम से कब्र के ऊपर से छलांग लगा के उसके सामने कूद के खड़ी हो गई एक क्षण को तो वो चौंका फिर बोला अरे पत्नी खूब जोर से चिल्लाई कि घबरा जाए मगर बोला चिल्लाओ करो मत पहचाने नहीं मैं कौन हूँ मुल्ला ने उससे कहा उसकी पत्नी ने कहा कौन हो उसने कहा मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन और तुम हो मेरे साले अपनी बहन को भी भूल गए तुम्हारी बहन से तो मेरी शादी हुई चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लगा तो उसने सोचा हो ना हो मेरी पत्नी का भाई है आओ हाथ में लाओ और घर चलो तुम्हारी बहन बड़ी खुश होगी आकृति मन में हो तो उसी आकृति के सहारे तुम देखोगे वो चीख पुकार तो पत्नी की पहचानी हुई थी कई दफे चीख चुकी पुकार चुकी इस तरह का विकराल रूप घर में भी रख लेती घर में पत्नियां बड़ा विकराल रूप रख लेती इसलिए तो बाहर निकलते वक्त उनको साज समझने में बड़ी देर लग जाती क्योंकि तो घर तो वो चंडी होती तू तो ये रूप घर देख चुका था कई दफा पहचाना हुआ रूप था यद्यपि स्थान नया था मरघट था कालच भी लगा ली थी मुंह पर बाल बिखरा लिए थे काले कपड़े पहन लिए थे तो भी फर्क न पड़ा पहचान गया तुम्हारी आंख में जब कोई आकृति बसी हो तो तुम उसे खोज ही लोगे हम वही सुनते हैं जो हमारी धारणा है हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है विज्ञान का अनिवार्य चरण है कि तुम निर्धारणा से जाओ तुम पहले से ख्याल लेके मत जाना शून्य मन जाओ नग्न मन जाओ तो अवलोकन होगा फिर परीक्षण करो क्योंकि अवलोकन से कुछ नहीं होता जो बात पहली दफा समझ में आ गई हो उसे कई तरफ से जांचो परखो बहुत प्रयोग करो जब हर प्रयोग में एक ही नतीजा आए और कभी अपवाद न हो तब कुछ रास्ता है तो अनुभव होगा अनुभव से निष्पत्ति होगी श्रद्धा बाद में श्रद्धा पहला कदम नहीं है विज्ञान में पहला कदम संदेह अंतिम कदम श्रद्धा जिसको तुम धर्म कहते हो आमतौर से उसमें श्रद्धा पहला कदम और संदेह की तो कोई जगह ही नहीं इसलिए बहुत बुद्धिमान लोगों को मजबूरी में अधार्मिक रहना पड़ता है क्योंकि ये बात उनकी पकड़ में नहीं आती संदेह को कहा ले जाए है तो है और अगर परमात्मा ने दिया है संदेह तो उसे काट के कैसे फेंकते हैं उसका कोई उपयोग होना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं बुद्ध ने अनूठी बात कही बुद्ध ने का संदेह का उपयोग हो सकता है संदेह को सेवा की संदेह को श्रद्धा की सेवा में लगाया जा सकता है संदेह श्रद्धा के विपरीत नहीं है संदेह के ही सहारे श्रद्धा खोजी जा सकती है यही तो विज्ञान करता है संदेह के सहारे श्रद्धा खोजता है और वैज्ञानिक जब एक निष्पत्ति पर पहुंचता है तो संदेह का कारण ही नहीं रह जाता सब परीक्षण कर लिए अवलोकन कर लिया सब तरह से जांच परख कर ली ऐसा पाया तथ्य धारणा नहीं तथ्य बुद्ध का एक नाम है तथागत उसका अर्थ होता है जो जगत में तथ्य को लाया जिसके द्वारा जगत में तथ्य आया इसके पहले कल्पनाएं थी धारणाएं थी विश्वास थे तथागत प्यारा शब्द है उसके बहुत अर्थ होते उसका एक अर्थ ये भी होता है आगत का अर्थ होता है आया और तथा का अर्थ होता है तथ्य जिसके द्वारा तथा तथ्य जगत में उतरा जिसने सत्य को तथ्य के माध्यम से खोजने के लिए कहा जिसने श्रद्धा की शोध संदेह के द्वारा करने को कहा ये बड़ी कीमिया है कि हम संदेह का उपयोग श्रद्धा को पाने के लिए कर लें केसर कस्तूरी नहीं मैली राख कर सकती है पावन कनक रजत के जूठे पात्र तुमने देखा जूठे पात्र को साफ करना हो केसर कस्तूरी नहीं मैली राख कर सकती है पावन कनक रजत के जूठे पात्र स्वर्ण और चांदी के बने जूठे पात्रों को साफ करना हो तो राख का सहारा लेना पड़ता है केसर कस्तूरी से थोड़ी पात्र शुद्ध होते राख से शुद्ध होते और राख क्या शुद्ध करेगी तुम कहोगे राख तो खुद ही शुद्ध नहीं है ऐसा ही संदेह ऊपर से देखोगे राख लेकिन अगर इसका उपयोग कर लो तो तुम्हारी आत्मा के रजत कनक के पात्र इससे शुद्ध हो जाते हैं बुद्ध ने संदेह को शुद्धि के लिए उपयोग कर लिया और कलाकार वही है जो व्यर्थ का भी सार्थक उपयोग कर ले गुणी वही है जो कांटे को भी फूल बना ले काट देना कोई गुण नहीं है उपयोग कर लेना सृजनात्मक उपयोग कर लेना गुण है विज्ञान कहता है निरपेक्ष रहो कोई अपेक्षा लेके सत्य के पास मत जाओ आंखें खाली हो ताकि तुम वही देख सको जो है यथावत तथावत तुम अगर पहले से ही कुछ मान के चल पड़े हो तो वही देख लोगे तुम्हारी कल्पना का प्रक्षेपण हो जाएगा मेरे एक मित्र थे बूढ़े आदमी थे अब तो चल बसे महात्मा भगवान दीन अनूठे व्यक्ति थे एक महानगर में कुछ पैसे इकट्ठे करने गए थे कहीं एक आश्रम बनाते थे सीधे साधे आदमी थे बस एक अंडर बियर पहने रहते थे कभी कभी सर्दी इत्यादि में एक चादर भी डाल देते थे वो अंडर बियर पहने वो दुकानों पर गए किसी ने चार आने दिए किसी ने आठ आने दिए किसी ने रुपया दिया शाम जब मुझे मिले उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नगर है कुल बीस रुपए इकट्ठे हुए मैंने कहा आप पागल हो ये कोई ढंग आपको महात्मा होना आता ही नहीं मुझसे पूछा होता ये बात ये जाने का ढंग अब दो चार दिन रुक जाओ दो चार दिन जाओ मत लोगों को भूल जाने दो उन्होंने कहा क्यों फिर क्या होगा मैंने कहा देखेंगे चार दिन बीत जाने के बाद अखबार में मैंने खबर दिलवाई कि बड़े महात्मा गांव में आए महात्मा भगवान जी और चार छह मित्रों को कहा कि जरा ढूंढी पीटो उनकी खबर करो गांव में फिर पंद्रह बीस मित्रों को इकट्ठा कर दिया मैंने कहा इनको साथ लेके अब जाए उन्हीं दुकानों पर जाना जिनसे चार आने और आठ आने और बारह आने पाए थे उन्हीं दुकानों पर गए वो लोग उठ उठ के चरण छुए कि महात्मा जी आइए बैठिए बड़ी कृपा की अखबार में पढ़ा कि आप आए और 20-25 आदमियों की भीड़ जिसने चार आने दिए थे उसने पांच सौ रूपये दिए जिसने आठ आने दिए थे तो उसने हजार रूपये दिए जब वो सांझ को लौटे तो बीस रूपये नहीं बीस हजार रूपये इकट्ठे करके लौटे मैंने पूछा कहो कैसी रही लोग प्रचार को देते विज्ञापन को देते लोग तुम्हें थोड़ी देते तो तुम चले गए अपना अंडरवियर पहन के चारा ने दे दिए यही बहुत तुमसे अंदर भी नहीं छीन लिया उन लोगों ने भले लोग नहीं तो धक्का मार के निकालते अलग और अंदर भी छीन लेते सो तो अलग मगर वो कहने लगे आश्चर्य की बात है कि उन्हीं तो कानों से गया और बुद्धुओं को ये भी ना दिखाई पड़ा कि मैं पहले चारा ने लेके चला जाऊं देखता कौन है वो चारा ने तुम्हें थोड़ी दिए थे हटाने को दिए थे कि जो भी हो चलो हटो फुर्सत किसको है धारणा जब धारणा हो मन में कि कोई महात्मा है तो फिर महात्मा दिखाई पड़ने लगता है चोर हो तो चोर दिखाई पड़ने लगता है एक आदमी के घर बगीचे में काम करते वक्त उसकी खुरपी खो गई तो उसने चारों तरफ देखा है पड़ोस का लड़का जा रहा था बिल्कुल चोर मालूम पड़ा उसने कहा हो ना हो यही शैतान खुरपी ले गया फिर दो तीन दिन उसने उसकी जांच परख की जहां भी दिखाई पड़े तो गौर से देखे बिल्कुल चोर मालूम पड़े चाल से चोर आंख से चोर हर तरह से चोर और तीसरे चौथे दिन खेत में अपने बगीचे में काम करते थी झाड़ी में पड़ी हुई वो खुरपी मिल गई अरे उसने कहा खुरपी तो यहीं पड़ी फिर उस दिन उस लड़के को देखा वो एकदम भला सज्जन मालूम पड़ने लगा न उसने खुरपी उठाई थी न उसे कुछ पता है कि क्या हुआ लेकिन धारणा जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी चोर तो तुम्हें चोर दिखाई पड़ने लगेगा जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी साधु तुम्हें साधु दिखाई पड़ने लगेगा ये सत्य को खोजने के ढंग नहीं धारणा अगर पहले ही बना ली तो तुम तो असत्य में जीने की कसम खा ली तो बुद्ध ने कहा कोई धारणा नहीं कोई शास्त्र लेके सत्य के पास मत जाना सत्य के पास तो जाना निर्वस्त्र और नग्न शून्य दर्पण की भांति जाना सत्य के पास तो जो हो वही झलके तो ही जान पाओगे अब मैं तुमसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया क्योंकि विज्ञान तो कहता वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है बुद्ध ने वही कहा विज्ञान तो बहिर्मुखी है बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान बुद्ध ने कहा जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के ऐसे ही अपने को भी देखना बिना किसी धारणा के ये जरा कठिन बात है करीब करीब असंभव जैसी क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते हम तो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे हम सब ने तो मान रखा है कि हम क्या हैं कैसे हैं कौन है पता कुछ भी नहीं है मान सब रखा है इसलिए रोज दुख उठाते हैं क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता है क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग हमारी पूजा कर रहे हैं लोग गाली दे रहे हैं कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे लोग पत्थर फेंक रहे हैं हमारी धारणाएं हैं अपनी हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी कल्पनाओं की सपनों की इंद्रधनुष बुद्ध कहते हैं ये प्रतिमाएं भी छोड़ो नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे तुम कौन हो ये धारणा छोड़ो हिंदू की मुसलमान की ईसाई कि जैन तुम कौन हो ब्राह्मण कि शूद्र कि छत्री तुम कौन हो साधु की असाधु ये सब धारणाएं छोड़ो तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो और ये सब धारणाएं बहुत छोटी असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही साधु की धारणा भी व्यर्थ है क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो स्वयं परमात्मा है ये तुम कहा की छोटी छोटी धारणाएं लेके चले इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता आंखें इतनी छोटी विराट समाये का तुमने सीमा इतनी छोटी बना ली है बड़ा उतरे कैसे तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते बुद्ध ने कहा भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं शांत मौन अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ तब वही दिखाई पड़ेगा जो है और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करने बैठता है लेकिन जब ध्यान हो जाता तो आंख ऐसी खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती फिर सदा के लिए खुली रह जाती है जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है कभी ख्याल किया वो क्या है मैं हिंदू मुसलमान की ब्राह्मण की शूद्र के अच्छा की बुरा की ऐसा की वैसा ये तुमने जो मान रखे हैं विचार ये तुम्हारे हैं ये सब उधार है मन तो एक चौराहा है जिस पर विचार के यात्री गुजरते रहते तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं एक घर में मेहमान था दो बच्चे सीढ़ियों पर बैठ के बड़ा झगड़ा कर रहे थे तो मैंने पूछा मामला क्या है जब मारा पीठ पर तो नौबत आ गई तो मैं उठा और बाहर गया मैंने कहा रुको बात क्या है अभी तो भले चंगे बैठे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कार ले ली उनका कहा की कार तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं आपको खेल का पता ही नहीं उनका खेल मुझे समझाओ तो उन्होंने कहा बात यह है कि रास्ते से जो कारें गुजरती हैं जो पहले देख ले वो उसकी अभी एक काली कार गुजरी वो मैंने पहले देखी और ये कहता है मेरी इससे झगड़ा हो गया है अब सड़क से कारें गुजर रही हैं और दो बच्चे लड़ रहे हैं कि किसकी और बंटवारा कर रहे हैं कारों वालों को पता ही नहीं कि यहाँ मुकदमे की नौबत आ गई मारपीट की हालत हुई जा रही है विचार भी ऐसे ही हैं तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं इसलिए तुम्हारे हैं ऐसा मत मान लेना तुम्हारा कौन सा विचार है जैन घर में पैदा हो गए माँ बाप ने कहा तुम जैन हो एक कार गुजरी तुमने पकड़ी कि मेरी मुसलमान घर में रख दिए गए होते तो मुसलमान हो जाते हिंदू घर में रख दिए गए होते तो हिंदू हो जाते संयोग की बात थी कि तुम रास्ते के किनारे खड़े थे और कार गुजरी ये संयोग था कि तुम जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए ये संयोग मात्र है इससे तुम न हिंदू होते हो न जैन होते हो मगर हो गए तुमने पकड़ ली बात किसी ने समझा दिया ब्राह्मण हो तिलक टीका लगा दिया जनेऊ पहना दिया कैसे कैसे बुद्धू बनाने के रास्ते और सरलता से तुम बुद्धू बन गए और तुमने मान लिया कि बस मैं ब्राह्मण हूं और तुम शूद्र को हिकारत की नजर से देखने लगे और अपने पीछे तुमने अकड़ पाल ली और फिर ऐसा ही तुमने गीता पढ़ी और कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ी और विचारों की श्रृंखला तुम्हारे भीतर चलने लगी तैरने लगी रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ता चला गया और तुम सारे ट्रैफिक के मालिक हो गए तुम्हारा इसमें क्या है तुम्हारा इसमें कोई भी विचार नहीं और फिर तुमने ये भी देखा विचार कितने जल्दी बदल जाते हैं विचार बड़े अवसरवादी हैं विचार बड़े राजनीतिक हैं पार्टी बदलने में देर नहीं लगती जब जैसा मौका हो मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर एक दुकान पर सामान खरीदने गया है जब वो लौट के आया तो किसी ने घोड़े पर लाल पेंट कर दिया घोड़े पर तो बड़ा नाराज हुआ कि ये कौन आदमी है इसमें किसने शरारत की तो किसी ने कहा ये सामने जो शराब घर है इसमें से एक आदमी आया और उसने इसको पोत दिया कोई पिए होगा तो मुल्ला बड़े क्रोध में भीतर गया उसने कहा कि किस नालायक ने मेरे घोड़े का नागन होता है हड्डी हड्डी निकाल के रख दूंगा कौन है खड़ा हो जाए जब आदमी खड़ा हुआ तो बड़ा घबराया कोई साढ़े छह फीट लंबा है एक सरदार जी खड़े हो मुल्ला थोड़ा सहमा उसने का हड्डी वगैरह तो निकालना दूर है अपनी हड्डियां बच जाए तो बहुत उसने सदान ने कहा बोलो क्या विचार क्या कह रहे किस लिए आयो मुल्ला ने करे सरदार जी मैं ये कहने आया हूँ कि घोड़े पर पहली कोट तो सूख गई दूसरी कोट कब करोगे बड़ी कृपा की घोड़ा रंग दिया मगर पहली कोट बिल्कुल सूख गई ऐसे बदल जाते विचार विचार बड़े अवसरवादी हैं विचारों का बहुत भरोसा मत करना मन राजनीतिज्ञ है और जो मन में पड़ा रहा वो राजनीति में पड़ा रहता है इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक आदमी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ है मन के पार गया मन के पीछे जो चैतन्य है उसमें विराजमान हुआ विचारों की इस भीड़ से हटो लेकिन जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटोगे विचारों की भीड़ ने ही तुम्हें बेईमान बनाया पाखंडी बनाया अवसरवादी बनाया है मन रोग है इससे अपने हाथ धो लो बेमन हो जाओ समाधि का इतना ही अर्थ है ध्यान का इतना ही अर्थ है कि किसी तरह मन से तुम्हारा तालाब में छूट जाए और तुम रोज देखते हो कि ये मन तुम्हें कैसे कैसे धोखे दिए जाता और इस मन के द्वारा तुम दूसरों को धोखे दे रहे हो और ये मन तुमको धोखा दे रहा है मैंने सुना है कि जंगल के जानवरों को आदमियों का एक दफा रोग लग गया जंगल से दौड़ती जीते और झंडे और चुनाव जानवरों ने कहा हमको भी चुनाव करना चाहिए लोकतंत्र हमें भी चाहिए बड़ी अशांति फैल गई जंगल में सिंह ने भी देखा कि अगर लोकतंत्र का साथ न दे तो उसका सिंहासन डोल हो जाए तो उसने कहा कि भाई हम तो पहले से लोकतंत्र ही खत्म करो इमरजेंसी चुनाव होगा चुनाव होने लगा अब बेचारे सिंह को घर घर द्वार द्वार हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़े गधों से बाप कहना पड़े एक लोमड़ी उसके साथ चलती थी सलाहकार जैसे दिल्ली में होते उस लोमड़ी ने कहा एक बात बड़ी कठिन है आप अभी अभी भेड़ों से मिलके आए और आपने भेड़ों से कहा कि तुम्हारे हित के लिए ही खड़ा हुआ तुम्हारा विकास हो सदा से तुम्हारा शोषण किया गया है प्यारी भेड़ो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हुआ आपने भेड़ों से कह दिया और आप भेड़ों के दुश्मन भेड़ियों के पास भी कल गए थे और उनसे भी आप कह रहे थे कि प्यारे भेड़ियों तुम्हारे हित के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारा हित हो तुम्हें रोज रोज नई नई जवान जवान भेड़े खाने को मिले ये तो हमारा लक्ष्य तो लोमड़ी ने कहा ये तो ठीक है कि इधर भेड़ों को भी समझा दिया भेड़ियों को भी समझा दिया और अगर दोनों को भी साथ साथ मिल जाए फिर क्या करोगे उसने कहा तुम गांधी बाबा का नाम सुने कि नहीं सुने उस लोमड़ी ने कहा गांधी बाबा का नाम सुने तो उन्होंने कहा गांधी बाबा हर तरकीब छोड़ गए जब दोनों साथ मिल जाते तो मैं कहता हूं मैं सर्वोदय हूं सबका उदय चाहता भेड़ों का भी उदय हो भेड़ियों का भी उदय हो सबका उदय चाहता हूं जब अकेले अकेले मिलता हूं तो उनका बता देता हूं जब सबका मिला तो सर्वोदय की बात कर देता हूं ये सर्वोदय शब्द भी सोचने जैसा है पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ जॉन रस्किन उसने किताब लिखी है unto this last Africa में महात्मा गांधी को किसी ने वो किताब भेंट की उस किताब से वो बहुत प्रभावित हुए उसको उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया तो किताब को क्या नाम दें किताब का ठीक ठीक नाम अगर अनुवाद करना हो तो होगा अंत्योदय उन्होंने नाम दिया सर्वोदय अंटू दिस लास्ट ये जो आखिरी आदमी है इसका विकास हो तो अंत्योदय अगर मैं अनुवाद करूं तो अंत्योदय करूंगा सर्वोदय तो नहीं कर सकता ये तो बेईमानी का शब्द है और दिस लास्ट का मतलब होता भी नहीं सर्वोदय क्योंकि जो आगे खड़े हैं और जो पीछे खड़े हैं अगर सबका उदय होता रहे साथ साथ तो जो आगे हैं वो आगे रहेंगे जो पीछे हैं वो पीछे रहेंगे फासला बराबर उतना का उतना रहेगा जो आगा खड़ा है उसे थोड़ा रोकना पड़ेगा ताकि पीछे वाला आगे बढ़े और शांत हो जाए अंत्योदय ठीक अनुवाद होगा लेकिन गांधी जी ने सर्वोदय शब्द चुना उसके लिए क्योंकि गांधी जी को लगेगा लगा होगा कि अगर अंत्योदय की बात करो भेड़ों की तो बात होगी लेकिन भेड़ियों का क्या फिर बिरला और जमनालाल बजाज और इनका क्या सर्वोदय बात ज्यादा राजनीतिक लगती है ये शब्द कुछ नया नहीं है एक जैन दार्शनिक समंत भद्राचारी ने हजारों साल इस शब्द पहले इस शब्द का प्रयोग किया सर्वोदय लेकिन बड़े दूसरे अर्थ में तब तो अर्थ ठीक था समंत भद्राचार्य ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया है महावीर के लिए कि तुम सर्वोदय तीर्थ हो क्योंकि तुम्हारे घाट से ब्राह्मण भी उतर जाता शूद्र भी उतर जाता छत्री भी उतर जाता वैश्य भी उतर जाता तुम्हारा तीर्थ सबके लिए ये तो ठीक था ये धार्मिक अर्थ था सर्वोदय का लेकिन गांधी ने उसे राजनीतिक अर्थ दिया और अंत्योदय को सर्वोदय में बदल दिया इसलिए तुम एक मजे की बात देखोगे पार्टी कोई भी हो कांग्रेस हो पुरानी की नई की जनता पार्टी हो यहां तक की समाजवादी भी पार्टी कोई भी हो लेकिन सब कहेंगे कि महात्मा गांधी के अनुयायी है कुछ बात है गांधी बाबा में समय पर काम पड़ते हैं कुछ तरकीब है तरकीब है अवसरवादिता के लिए सुविधा है तो सिंह भी कहता है कि मैं जब दोनों को साथ साथ मिल जाता हूं तब सर्वोदय की बात करता हूं तुम अपने मन को जांचो तुम बड़ी राजनीति मन में पाओगे तुम चकित होगे देखकर कि तुम्हारा मन कितना अवसरवादी है जब जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता है उसी को तुम स्वीकार कर लेते जब जिस चीज से जिस तरह शोषण हो सके तुम वैसा ही शोषण कर लेते जब जैसा स्वांग रचना पड़े वैसा ही स्वांग रच लेते अगर ऐसा ही चलता रहा ये स्वांग रचने का खेल तो आत्मबोध कभी भी ना हो सकेगा कितने तो स्वांग तुम रच चुके कभी जंगली जानवर थे कभी वृक्ष थे कभी पशु पक्षी थे कभी कुछ कभी कुछ कभी स्त्री कभी पुरुष कितने स्वांग तुम रच चुके अनंत अनंत यात्रा पथ पर कितने विचारों के चक्कर में तुमने कितने स्वांग रचे कितनी योनियों में तुम उतरे और अभी भी चक्कर जारी है बुद्ध कहते हैं जो मन से मुक्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो गया क्योंकि मन ही तुम्हारे आवागमन को चलाता है मन चलता है और तुम्हें चलाता है मन का चलना रुक जाए तो तुम्हारा चलना भी रुक जाए इस यात्रा का जो पहला कदम है वो है मन के साथ तादात तोड़ लेना मैं मन नहीं हूं तो फिर मन के विचारों से क्या संबंध तो न तो ईश्वर के संबंध में कोई विचार लेके चलना ना आत्मा के संबंध में कोई विचार लेके चलना ना शुभ अशुभ के संबंध में कोई विचार लेके चलना विचार को पकड़ के चलने वाला निर्विचार तक कभी नहीं पहुंच सकेगा विचार को छोड़ना है और निर्विचार में स्थिर होना है ये महाक्रांति बुद्ध संसार में लाए एक बात और फिर हम सूत्रों में उतरे पश्चिम का एक बड़ा विचारक है कार्ल गुस्ताव जो उसने एक महत्वपूर्ण बात खोजी नई नहीं है कहना चाहिए पुनः खोजी क्योंकि इस देश को पूर्वी मनीषा को ये तथ्य हजारों साल से ज्ञात है काम गुस्ताव जुंग ने ये खोजा कि कोई पुरुष सिर्फ पुरुष ही नहीं है उसके भीतर स्त्री भी छिपी है और कोई स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है उसके भीतर पुरुष भी छिपा है ये स्वाभाविक भी है वैज्ञानिक भी है क्योंकि प्रत्येक का जन्म दो के मिलने से हुआ है पुरुष और स्त्री के मिलने से तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता के मिलन से तुम पैदा हुए हो तो कुछ तुम्हारे पिता का तुमने आया है कुछ तुम्हारी माँ का तुमने आया है तो तुम ना तो एकदम पुरुष हो सकते हो ना एकदम स्त्री हो सकते हो सौ प्रतिशत पुरुष होता ही नहीं और न सौ प्रतिशत कोई स्त्री होती भेद ऐसा होता है कि साठ प्रतिशत पुरुष चालीस प्रतिशत स्त्री तो तुम पुरुष या तुम स्त्री साठ प्रतिशत स्त्री और चालीस प्रतिशत पुरुष तो तुम स्त्री लेकिन भेद ऐसे ही होता है थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्त्री छुपी है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पुरुष छिपा है मनुष्य द्विलिंगी है बायसेक्सुअल है इस तथ्य को मैं क्यों तुमसे कहना चाहता हूँ क्योंकि इस तथ्य के सारे कुछ बातें समझ में आ जाएंगी पहली बात तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है उस पुरुष के कुछ लक्षण है तर्क सक्रियता आक्रमण हमला पुरुष के लक्षण है और तुम्हारे भीतर जो स्त्री छिपी हो उसके कुछ लक्षण है प्रेम स्वीकार भावना कल्पना समर्पण पुरुष का लक्षण है संकल्प स्त्री का लक्षण है समर्पण पुरुष का लक्षण है ज्ञान स्त्री का लक्षण है भक्ति पुरुष का लक्षण है सत्य की खोज पर जाना स्त्री का लक्षण है सत्य के आने की प्रतीक्षा करना ये दोनों तुम्हारे भीतर छिपे तो तुम्हारे भीतर का पुरुष अगर बहुत सक्रिय हो जाए और वस्तु जगत में भी अगर पुरुष को ही खोजे तुम्हारा पुरुष अगर वस्तु जगत में भी पुरुष को ही खोजे तो तुम वैज्ञानिक बन जाओगे इसलिए वैज्ञानिक कठोर तर्क से जीता है और कठोर सत्य की खोज करता है एक सुंदर फूल लगा है अगर वैज्ञानिक आएगा तो सुंदर ही नहीं देखेगा फूल में वो देखेगा किन रासायनिक द्रव्यों से मिलकर बना है फूल उसमें जो कोमल तत्व है फूल में उसे चूक जाएगा जो कठोर तत्व है उसको पकड़ लेगा वैज्ञानिक पुरुष की पुरुष से मिलन की अवस्था है इसलिए विज्ञान एक तरह की होमोसेक्सुअलिटी है समलिंगीता है पुरुष पुरुष की खोज कर रहा है जैसे पुरुष पुरुष के प्रेम में पड़ गया है इससे खोज तो होती है लेकिन बहुत सृजन नहीं होता क्योंकि पुरुष और पुरुष के साथ कैसी सृजन हो सकता है फिर एक दूसरी इससे विपरीत दशा है कि तुम्हारे भीतर की स्त्री सारे जगत में व्याप्त स्त्रीण तत्व की खोज करे तुम्हारे भीतर की कोमलता जगत की कोमलता की खोज करे इससे काव्य का जन्म होता है कला का तो तुम कवि को देखते हो स्त्रीण हो जाता है लंबे बाल बढ़ाए हैं ढीले ढाले कपड़े पहने हैं रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और अगर तुम फूल दिखाओ तो उसको रासायनिक द्रव्य नहीं दिखाई पड़ेंगे फूल का सौंदर्य फूल का रंग फूल की सुगंध कोमल तत्व उसे दिखाई पड़ेंगे अगर तुम चांद दिखाओ तो वैज्ञानिक देखेगा चांद में पत्थर पहाड़ झीले कुछ इस तरह की चीजें देखेगा अगर कवि को तुम दिखाओ चांद तो उसे अपनी प्रेसी का मुख दिखाई पड़ेगा कि खिलता हुआ कमल दिखाई पड़ेगा कि काव्य का जन्म होगा तो कवि है स्त्री तत्व के द्वारा स्त्री तत्व की खोज वो भी होमोसेक्सुअलिटी है क्योंकि दो स्त्रियों के प्रेम से फिर कुछ सृजन नहीं हो सकता और धर्म धर्म है हेट्रोसेक्सुअलिटी एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन अब धर्म दो तरह के हो सकते तुम्हारे भीतर का पुरुष अस्तित्व में छिपी हुई स्त्री को खोजे तो एक तरह का धर्म होगा और तुम्हारे भीतर की छिपी स्त्री अस्तित्व में छिपे पुरुष को खोजे तो दूसरी तरह का धर्म होगा इसी से भक्ति और ज्ञान का भेद है भक्ति का अर्थ हुआ तुम्हारे भीतर की स्त्री जगत में छिपे पुरुष को खोज रही राधा कृष्ण को खोज रही ज्ञान का अर्थ हुआ तुम्हारे भीतर का छिपा पुरुष अस्तित्व में छिपी स्त्री को खोज रहा है बुद्ध का धर्म ज्ञान का धर्म है तुम्हारे भीतर का पुरुष जगत में छिपी स्त्री को खोज रहा है बुद्ध का धर्म ज्ञान और ध्यान का धर्म है नारद मीरा चैतन्य का धर्म भक्ति का प्रेम का धर्म है तुमने कभी ख्याल किया हिंदू कभी भी जब कहते तो ऐसा नहीं कहते कृष्ण राधा नहीं कहते कहते राधा कृष्ण राधा को पहले रखते कृष्ण को पीछे कर देते कहते सीता राम सीता को पहले रख देते राम को पीछे रख देते क्या कारण होगा ये अकारण नहीं है कुछ भी अकारण नहीं होता ये चुनाव है इसमें बात जाहिर है कि हमारे भीतर का स्त्री तत्व जगत में छिपे पुरुष तत्व को खोज रहा है इसलिए स्त्री पहले राधा पहले कृष्ण पीछे ज्ञानी कुछ और ढंग से खोजता है अगर सूफियों से पूछो कि परमात्मा क्या क्या रूप है तो वो कहते हैं प्रेसी परमात्मा प्रेसी है हिंदू भक्तों से पूछो तो वो कहते हैं परमात्मा पुरुष है प्रेसी हम हम उसकी सखिया वो पुरुष और सूफी कहते हैं कि हम पुरुष वो हमारी प्रेस प्रीतमा इसलिए सूफियों की जो कविता है उसमें पुरुष की तरह परमात्मा का वर्णन नहीं है स्त्री की तरह वर्णन है प्यारी प्रीतमा की तरह फर्क ख्याल में लेना ये दो संभावनाएं हैं धर्म की तुम्हारा पुरुष खोजे स्त्री को या तुम्हारी स्त्री खोजे पुरुष को बुद्ध का धर्म तुम्हारे भीतर जो पुरुष है तुम्हारे भीतर जो विचार ज्ञान विवेक तुम्हारे भीतर तर्क संदेश उस सबको नियोजित करना है सत्य की खोज अभी कल तक मैं दया की बात कर रहा था वो ठीक इससे उल्टी बात थी वहां स्त्री खोज रही थी पुरुष को तो तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कल्पना तुम्हारी भावना तुम्हारी अनुभूति तुम्हारा हृदय लगेगा काम में बुद्ध के साथ तुम्हारी बुद्धि लगेगी काम में तुम्हारे हृदय की कोई जरूरत नहीं हृदय को बात दी जा सकती है भावना समर्पण इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है भावना और समर्पण वाला धर्म सुगम है बहु प्रचारित है बुद्ध ने धर्म को एक नया आयाम दिया ताकि तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है वो कहीं वंचित न रह जाए तो तुम सोच लेना अगर तुम्हारे भीतर संदेह की क्षमता है तो तुम श्रद्धा की झंझट में मत पड़ो अगर तुम पाते हो संदेह में कुशल हो तो श्रद्धा की बात भूलो अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संकल्प का बल है तो तुम समर्पण को छोड़ो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास तलवार की धार की तरह बुद्धि है तो तुम उसका उपयोग कर लो उसी से पहुंच जाओगे जो तुम्हारे पास हो उसे ठीक से पहचान लो और उसका उपयोग कर लो अब सूत्र किसी ने गीता कही तो एक शिष्य को कही ये सूत्र पद के अलग अलग शिष्यों से अलग अलग समयों में कहे गए ये बहुत शिष्यों को बहुत अलग अलग स्थितियों में कहे गए और आज के जो सूत्र हैं उन सब सूत्रों के पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं कब कहे गए वे कथाएं भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि संदर्भ में ही तुम ठीक से समझ पाओगे पहला सूत्र योचा पुब्बे पम जित्वा पच्छा सो नप मज्जती सोमन लोकम पभासेती अब्भा मुत्तो व चंदिमा जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है तुमने एक वचन सुना होगा पश्चिम के ईसाई फकीर कहते हैं कि प्रत्येक संत का अतीत है और प्रत्येक पापी का भविष्य every saint has a past and every sinner has a future ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सभी संत अपने अतीत में पापी रहे हैं और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पापी का भविष्य है क्योंकि कितना ही तुम पाप करो तुम किसी भी दिन चाहो उसी दिन संत हो सकते हो ये तुम्हारा निर्णय ये तुमने चुना है तुम जैसे हो वैसा होना नियति नहीं है ये तुम्हारा निर्णय तुम इसे बदल दे सकते हो तो प्रत्येक पापी का भविष्य और प्रत्येक संत का अतीत है ये सूत्र कहता है जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता पहले तो बड़ी भूले की निद्रा में जिया सोया सोया रहा प्रमाद किया आलस्य किया बेहोश रहा मूर्छित रहा जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता लेकिन जाग गया फिर होश आ गया फिर वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है वही है संत संत का यह अर्थ नहीं कि जिसने कभी भूले नहीं की ऐसे संत को खोजने निकलना ही मत ऐसा संत होता ही नहीं हो ही नहीं सकता संत का अर्थ है जिसने बहुत भूले की दिल खोल के भूले की और खूब की होंगी तभी तो जागा लेकिन तो इतनी आसानी से जाग भी नहीं सकता था इतनी की होंगी इतनी की होंगी कि उनकी पीड़ा अब और झेलनी संभव न रही इतनी की होंगी कि उनका कांटा चुपते चुपते हृदय तक पहुंच गया इतनी की होंगी कि रोआ रोआ पीड़ा से भर गया क्योंकि भूल करोगे तो पीड़ा तो झेलनी पड़ेगी इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कान खोल के सुनना अगर पाप करना हो तो कुनको पाप मत करना नहीं तो तुम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे जैसे 100 डिग्री पे पानी उबल के भाप बनता है ऐसा 100 डिग्री पर पापी संत बनता है पाप ही करना हो तो पूरी सती लगा के कर लेना ऐसा कंजूसी मत करना पाप करने में कि थोड़ा थोड़ा कर रहे फुट कर फुट कर ठोक करना तो संभावना है कि किसी दिन तुम जग जाओ नहीं तो तुम कभी ना जगोगे क्योंकि अगर थोक किया तो थोक ही पश्चाताप भी होगा अगर थोक किया तो पहाड़ टूट पड़ेगा पीड़ा का उस पीड़ा के पहाड़ के टूटने में ही कोई जागता है नहीं तो जागता नहीं तुमने कभी देखा रात तुम दुख स्वप्न देखते हो चलता जाता दुख स्वप्न तुम्हें मारा जा रहा पीटा जा रहा सताया जा रहा दुष्ट तुम्हारी छाती पे बैठे तुम्हें पहाड़ के नीचे फेंक रहे तुम गिर रहे चलता रहता है तुम जगना भी चाहते हो जग भी नहीं सकते तुम करबट नहीं बदलते हो मगर हाथ नहीं हिलता आंख खोलना चाहते हो आंख नहीं खुलती ऐसा दुख स्वप्न लेकिन वो भी टूटता तो है मगर तुमने ख्याल किया कब टूटता जब आखिरी घड़ी आ जाती कि हिमालय ही तुम्हारी छाती पे गिर गया फिर टूटता है फिर तुम एकदम जाग के उठाते हो एक सीमा है उसके बाद दुख स्वप्न टूटता है अगर दुख स्वप्न भी धीमा धीमा चलता रहे होम्योपैथी की मात्रा में चलता रहे एलोपैथिक डोज चाहिए पाप का तो कोई जगता है इसलिए बड़े पापी अक्सर क्षण भर में संत हो जाते तुमने वाल्मीकि की कथा सुनी ना क्षण भर में बाल्या भी क्षण भर में वाल्मीकि हो गया पकड़ लिया एक ऋषि को ऋषि जा रहे अपनी वीणा बजाते भजन गाते गीत गाते पकड़ लिया लूटने के इरादे से लुटेरा था बाल्या बांध दिया एक वृक्ष से हका दे दो जो कुछ हो ऋषि के पास कुछ था भी नहीं उसने कहा ये वीणा है अगर लेना हो ले लो और मैं हूं अगर मुझसे कुछ काम लेना हो मुझसे काम ले लो लेकिन मामला क्या है ये तो कर क्या रहा है तो बाल्या ने कहा क्या कर रहा हूं बच्चों का पेट भरना है पत्नी है बच्चे हैं बूढ़े माता पिता है उसने कहा ठीक है तो एक बात तो उनसे पूछा कि जब इन सारे पापों का फल तुझे मिलेगा वो इसमें सहयोगी होंगे भागीदार होंगे बाल्या थोड़ा चौंका उसने कहा महाराज तरकी बिना निकलो भाग जाने की मैं जाऊंगा घर और तुम इधर नदारत हो जाओ तो ऋषि ने कहा तू मुझे ठीक से बांध के जा या चाहे तो मैं तेरे साथ घर चला जाऊँ देखा ऋषि की आंखों में आदमी निष्ठावान था सीधा सरल था बांध दिया कहा मैं अभी आया पूछकर बाल्या घर गया अपनी पत्नी से पूछा कि देख रोज में चोरी करता डांके डालता लोगों को मारता मार भी डालता कभी ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जब इसका फल मुझे मिलेगा नरक में जब मैं जलाया जाऊंगा सड़ाया जाऊंगा तब तुम इसमें भागीदार होगे कि नहीं तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें क्या भागीदारी ये तुम्हारा काम हो पति हो तो तुम करते हो मगर भागीदारी वगैरह इसमें कुछ नहीं है तुम्हारा तुम जानो हमें पता ही क्या कि तुम कहां से क्या करके लाते हो और इसमें स्त्री को लेना देना भी क्या है कि तुम पुण्य से कमाते कि पाप से ये तुम जानो बाल तो बहुत चौंका उसने अपने बूढ़े बाप से पूछा बूढ़े बाप ने कहा मैं वैसे बूढ़ा हो गया और परेशान हो रहा हूँ और अब कहा की परेशानियों की बातें मेरे पास लाता और तू तो जब मरेगा तब मरेगा मेरी मौत तो करीब आ रही ये साझेदारी नहीं होगी हम नरक में पहले पहुंच जाएंगे फिर हमें कुछ मतलब नहीं तू पुण्य करके ला तू पाप करके ला बूढ़े बाप की सेवा करेगा ना बूढ़े बाप की सेवा करने से जो पुण्य तुझे मिलना है वो मिलेगा बाकी तू जो कर रहा वो तू जान उसने सबसे पूछा कोई भागीदारी में राजी नहीं था उसने कहा ये भी खूब रही वो लौट के आया ऋषि को उसने छोड़ दिया पैरों पर गिर पड़ा उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ध्यान बता दो हो गया बहुत लेकिन मैं बड़ा पाती हूं और जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार मुझे होगा इसकी आसानी लेकिन कोई फिक्र नहीं जिस जिद से पाप करता था उसी जिद से पुण्य करूंगा और जिस जिद से नुकसान पहुंचाया है उस जिद से स्मरण भी करूंगा हटी हूं इतनी बात भर मुझ में गुण की जो करूंगा पूरी तरह करूंगा आप मुझे बता दो बेपढ़ा लिखा था बाल्या ऋषि ने कहा तो तू अब और तो क्या करेगा राम राम राम राम जब वो जपता रहा लेकिन थोड़ी देर में भूल गया राम राम तो मरा मरा जपता रहा राम राम जोर से जपो तो मरा मरा हो जाता इससे कभी कभी मालगाड़ी के डब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाते ना तो राम राम राम राम तेजी से जपते रहो तो पक्का नहीं रह जाता कि राम पहले की माँ पहले एक दूसरे पर चढ़ जाते तो वो मरा मरा जपता रहा और जब ऋषि वापस आए तो देखा कि वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया अपूर्व उसकी आभा है ऐसा तो ऋषि को भी नहीं हुआ था तो पूछा तूने किया क्या पागल तू तो पहुंच गया मालूम होता तू तो परमहंस हो गया तेरे आसपास सुगंध तेरे आसपास ज्योति है तूने किया क्या उसने कहा कुछ नहीं वो जो आप मंत्र बता गए थे कि मरा मरा जपते रहू मैं जपता रहा मगर दिल खोल के जपा हो गया ऋषि की आंख में आंसू आ गए वो राम राम जपते उनकी जिंदगी हो गई मगर कुनकुना कुनकुना जपते होंगे ऐसा वीणा वगैरह बजाते होंगे सुर ताल का भी ध्यान रखते होंगे हिसाब से जपते होंगे मगर इसने बेहिसाब जपा ये पहुंच गया पापी अक्सर एक क्षण में क्रांति को उपलब्ध हो जाते कुमकुने जो जीते हैं अभागे लोग वही है या तो त्वरा से जियो पापी की तरह या त्वरा से जियो पुण्यात्मा की तरह तो ही तुम जानोगे कि जीवन का अर्थ क्या है पाप की त्वरा जलाएगी राख कर देगी तुम लेकिन उसी राख में से नया जीवन आविर्भूत होता है बुद्ध कहते हैं जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता जिसने पहले बहुत भूले की बहुत पाप किए लेकिन एक दिन पापों का बोझ इतना हो गया कि अब उसको और ढोना संभव नहीं उसे उतार कर रख देता है वह इस लोक को मेघों से मुक्त हो गए चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है देखा रात कभी आकाश में मेघ गिर जाते तो चांद दब जाता बस ऐसी ही तुम्हारी दशा है तुम भटके नहीं हो केवल थोड़े से मेघों में गिर गए हो चांद अब भी चांद उतना ही पवित्र जितना कभी था तुम अब भी कुरे हो तुम्हारा अंतरतम पापी हो ही नहीं सकता वहां तक पाप पहुंचता ही नहीं क्योंकि चांद को कितने ही मेघ घेरने और कितने ही काले कजरारे मेघ हो कोई फर्क नहीं पड़ता चांद अछूता रहता है ये बहुत मौलिक घोषणा है कि तुम चांद जैसे शुद्ध और पवित्र हो तुम्हारे ऊपर अगर मेघ घिर गए हैं तो विचारों के वासनाओं के और वे भी इसलिए घिर गए हैं कि तुम बड़ी निद्रा में जी रहे हो प्रमाद शब्द बौद्धों का अपना शब्द है प्रमाद का अर्थ होता है कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नींद में या कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नशे में चल भी रहा है पक्का पता भी नहीं क्यों चल रहा है चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहाँ चल रहा है चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है चला जा रहा है एक शराबी शराब घर से निकला रास्ते पे आया संयोग बसात एक पैर तो उसका नीचे पड़ गया सड़क पर और एक पड़ गया सड़क के पास की पटरी पे वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है क्या मैं लंगड़ा हो गया ये मेरे पांव नीचे ऊंचे क्यों हो गए लंगड़ा हो गया ये सोच के बेचारा संभल संभल के चलने लगा मगर उसने पटरी की लीक पकड़ रखी एक पैर पटरी पर और एक सड़क पर एक पुलिस वाले ने उसे देखा उसने ऐसे हुआ क्या है क्योंकि बड़ी धीरे धीरे सरकता चला जा रहा है बड़ी मुश्किल उठा रहा है चलना कठिन हो रहा है उस पुलिस वाले ने आके पूछा कि मामला क्या उसने कहा मामला क्या गिरी समझ में नहीं आता लगता अचानक में लगड़ा हो गया एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया ये आदमी मूर्छित है तथ्य इसे दिखाई नहीं पड़ते ऐसी अवस्था को बौद्ध कहते हैं प्रमाद ये सूत्र बुद्ध ने एक विशेष घटना के समय कहा था वो घटना भी समझ लेने जैसी बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु थे उनका नाम था समुंजनी उन्हें सफाई का पागलपन था क्योंकि बुद्ध ने कहा स्वच्छ रहो साफ सुथरे रहो वो उनको धुन पकड़ गई पागल तो पागल वो ठीक बात से में भी गलत बात निकाल लेते उनको ऐसी धुन पकड़ गई कि 24 घंटे वो झाड़ू ही लिए रहे इधर जाला दिखाई पड़ गया उधर कचरा दिखाई पड़ गया सफाई ही सफाई कई तो स्त्री स्त्रियों को ये रोग रहता है सफाई ही सफाई किसके लिए सफाई कर रही ये भी कुछ पक्का नहीं मैं एक घर में कुछ दिन तक रहता था बड़ा साफ सुथरा घर था ऐसा साफ सुथरा घर मैंने देखा ही नहीं घर कहने नहीं चाहिए उसको इतना साफ सुथरा था उसमें रहने की सुविधा ही नहीं थी वो महिला अपने पति को भी अपने बैठक खाने में नहीं बैठने देती थी कि तुम उठो अखबार भीतर चल के पढ़ो क्योंकि इधर बैठे रहे घंटे भर तो उसकी गद्दी खराब हो जाए मेहमानों को वो पसंद न करती कि कोई घर में आए क्योंकि वो सफाई बच्चे बैठक खाने में प्रवेश न कर सकते क्योंकि सफाई मैं दो चार दिन देखता रहा मैंने उससे कहा कि सफाई तो बड़ी तो गजब की कर रही है उसको मैंने ये कहानी कही थी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ बुद्ध की मैंने कही तो ठीक है मगर किस लिए मेहमान आ नहीं सकते पति बैठ नहीं सकता बच्चे आ नहीं सकते तुझे मैंने कभी बैठा देखा नहीं बस तू सफाई नहीं लगी वो दिन भर लिए है कपड़ा और बाल्टी और जगह जगह घिस रही है सफाई तो बुरी बात नहीं उसने मुझसे कहा मैंने कहा नहीं सफाई बुरी बात नहीं लेकिन सफाई ही सफाई करते रहो सफाई का प्रयोजन क्या है कि साफ सुथरे घर में रहो मगर रहने का मौका भी चाहिए ना रहने का अवकाश चाहिए ये बुद्ध के भिक्षु थे समुंजनी बुद्ध की बात सुन के जी स्वच्छ रहो उनको पकड़ गई पागल रहे होंगे दिमाग को झपकी रहा होगा उन्होंने कहा ठीक जब बुद्ध ने कहा तो फिर तो वो झाड़ू लिए रहते दिन भर और दिन भर झाड़ू लगाया करते कभी यहाँ गंदा कभी वहां गंदा उन्हें मौका ही न मिलता भीतरी सफाई का जिसके लिए भिक्षु हुए थे जिसके लिए संन्यास लिया था एक दिन एक वृद्ध भिक्षु रेवत ने उन्हें कहा आप उस भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए बाहर की सफाई ठीक है तो कभी सुबह कर ली सांझ कर ली बाकी 24 घंटे यही काम तो झाड़ू से तुम स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे कुछ ध्यान भी करो कुछ भीतर की सफाई भी करो कुछ भीतर की झाड़ू उठाओ कभी ध्यान किया करो कभी शांत बैठा करो कभी विश्राम में भीतर जाया करो कुछ भीतर भी तो झाको उससे ही असली सफाई होगी भीतर कब झाड़ू मारोगे उस बूढ़े फकीर ने पूछा या कि जीवन भर ऐसा ही बिता देना है बात चोट खा गई जनी को बोध हुआ होश आया बात तो उसे हास्यास्पद लगी कि मैं क्या करता रहा कोई दस साल हो गए बुद्ध के पास यही काम करते जैसे नींद टूटी तंद्रा की जैसे एक परत आंखों से गिर गई बाहर नहीं जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई किसी सुबह कोई रात का सोया हुआ जागे और सपने खो जाए दूसरे दिन उसे झाड़ू न लगाते देखकर अन्य भिक्षु हैरान हुए ये तो बात ही भरोसे की न थी कि समझनी और झाड़ू न लगाए और दूसरे दिन देखा कि झाड़ू वगैरह उनके हाथ में भी नहीं तो उनको तो भरोसे नहीं आए क्योंकि तो, तो झाड़ू वाले ही भिक्षु की तरह प्रसिद्ध थे झाड़ू वाले बाबा उन्होंने पूछा आवश समंजनी स्थिर आज झाड़ू कहा ये आपके स्वभाव में परिवर्तन कैसे आप होश में तो हैं तबीयत तो ठीक है ना कुछ बीमार इत्यादि तो नहीं हो गए ये कैसा पतन ये कैसा चरित्र का हैरास देखो इस जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया उस जगह मकड़ी का जाला लगा लोग मजाक करने लगे समंजनी हंसे और बोले बनते सोते समय में ऐसा करता था सोते समय में ऐसा करता था लेकिन अब जाग गया हूं मेरा प्रमाद गया और अब प्रमाद का मुझ में उदय हुआ है सुबह शाम झाड़ू लगा दूंगा उतना पर्याप्त है से समय भीतर की सफाई और ऐसा कह के वे फिर ध्यान में लीन हो गए भिक्षु ने ये बात जाके बुद्ध को कही बुद्ध ने कहा हाँ भिक्षु मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था लेकिन अब जाग गया है और उस व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है तब बुद्ध ने यह गाथा कही यही गाथा आज का पहला सूत्र है योचा पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप मज्जती सोमम लोकम पभासे अब्भा मुत्तो वाचन जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है बुद्ध ने कहा मेरा यह पुत्र सच्चा पिता तो गुरु ही है क्योंकि उससे आत्मा को जन्म मिलता बुद्ध ने कहा मेरा यह पुत्र अब जाग गया है बेहोश था तब ऐसा मूर्छित व्यवहार चलता था पागलपन का व्यवहार था वह अब ये होश में आ गया है तुम जाओ उसके पास बैठो उसे गौर से देखो ये वही आदमी नहीं है ये चांद है जो मेघों से मुक्त हो गया है इसका प्रमाद गया दूसरा सूत्र यस पापम कतम कम्मम कुशलेन पिथियती सोमम लोकम पभासेती अब्भा मुक्तो व चंदिमा जिसका किया हुआ पाप उसी के बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है पापों की चिंता मत करो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमने पाप किए बहुत उनको कैसे काटे अब पीछे तो लौटना संभव नहीं जो गया सो गया जो हुआ सो हुआ अब तो तुम कुछ ऐसा करो कुछ ऐसी दिशा में अपने जीवन ऊर्जा को बहाओ कि संतुलन आ जाए जैसे तुमने चोरी की तो दान कर दो पुण्य का और क्या अर्थ होता है तुमने कभी पुण्य का ऐसा सोचा अर्थ पुण्यात्मा होकर तुम अहंकारी मत बन जाना क्योंकि पुण्यात्मा तो सिर्फ पश्चाताप है उसमें गौरव का कुछ भी नहीं जैसे एक आदमी बीमार हुआ ज्यादा भोजन करता था रात देर तक जागता था कामाचारी था बीमार हुआ तो अब दवा लेनी पड़ती पथ्य पर जीना पड़ता ठीक समय सोना पड़ता सुबह व्यायाम करना पड़ता तो ऐसा आदमी सड़क पर जाके अपनी दवाइयों की बोतल दिखा के लोगों को तो नहीं कहता कि देखो मैं कैसा पुण्य आत्मा कैसी कैसी दवाइयां पीता हूं पत्थर से जीता हूं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कहता क्योंकि जो वो कर रहा है वो तो जो पहले किया है उसको अन किया करने के लिए कर रहा है जिसका कोई मूल्य थोड़ी किया था पाप तो पुण्य चोरी की तो दान क्रोध किया था करुणा लोभ किया था तो सेवा कुछ करो जो हो गया उसको तो अन किया नहीं किया जा सकता वो तो गया वो तो समय गया वो हाथ के बाहर हो गई बात लेकिन तुम अभी अपनी ऊर्जा को ठीक दूसरी दिशा में झुका सकते हो तो संतुलन आ जाएगा जैसे आदमी तराजू तोलता एक पल्ले पर तुमने चीजें रखते गए रखते गए रखते गए वो पल्ला जमीन से लग गया और दूसरा उठ गया ऊपर अब क्या करूं समय का पड़ना ऐसा है कि जो जमीन से लग गया वो तो तुम्हारे हाथ से बाहर हो गया वो तो अतीत हो गया अब उसमें से चीजें निकाल नहीं सकते जो कर लिया कर लिया अब कैसे घटाओगे तो पुण्य की प्रक्रिया का अर्थ इतनी है कि वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया अतीत का पड़ला तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया लेकिन भविष्य का पड़ला तुम्हारे हाथ के भीतर है इस पर पुण्य चढ़ाओ धीरे धीरे ये पड़ला नीचे भारी होकर उतरेगा और पुराने पल्ले को बराबर ले आएगा संतुलन हो जाएगा और जहां तराजू मध्य में ठहर जाएगा जहाँ तराजू का कांटा बताने लगेगा दोनों बराबर हो गए उसी क्षण मुक्ति है मुक्ति जहां कांटा मध्य में आ जाता जहां ना तुम पापी रहे न पुण्यात्मा जहां ना शुभ रहे न अशुभ न अच्छे न बुरे न सज्जन न दुर्जन उसी क्षण तुम पार हो जाते उस अवस्था को बौद्धों ने कहा सम्यक समता आ गई ये दूसरे सूत्र की घटना भिक्षु अंगुलीमाल के देह छोड़ने पर अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा बनते अंगुलीमाल मरकर कहा उत्पन्न हुए होंगे ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी क्योंकि अंगुलीमाल बड़ा हत्यारा था उसने एक हजार लोगों की हत्या की थी उसने कसम ली थी कि एक हजार लोगों को मार के उनकी अंगुलियों की माला बना के पहनूंगा इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया था क्योंकि अंगुलियों की माला उसने पहन ली थी उसने एक हजार लोग मार डाले थे वो बड़ा भयंकर हत्यारा था बुद्ध के समय का 999 आदमियों को मार चुका था और हजारवी की प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे तो जिस जंगल में छिप के अंगुलिमान रहता था वहां कोई जाता नहीं था जाए ही नहीं कोई उसकी मां नहीं जाने को राजी थी क्योंकि लोगों को डर था लोग जानते थे वो मां तक को मार डालेगा उसको तो एक हजार का व्रत पूरा करना बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा आप न जाए बनते वो आदमी खतरनाक वो सोचेगे नहीं आप कौन हो उसको तो बिल्कुल अंधा है उसने नौ सौ निन्यानबे आदमी मार डाले राजा उससे कपते सैनिक उससे डरते हैं फौजें नहीं निकलती इस रास्ते से जो किसी को भी मार डाले वो एकदम पागल है उसे होश है ही नहीं आप मत जाए लेकिन बुद्ध ने कहा अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं ना भी जाता लेकिन अब पता है मुझे वो बेचारा एक की प्रतीक्षा करता होगा नौ सौ निन्यानवे मार डाले ना उसको हजारा आदमी चाहिए उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा ये भी तो सोचो तो मैं जाता हूँ तो बुद्ध गए उनके साथ ही संगी भी पीछे छूट गए ऐसे समय कौन साथ कौन संगी जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए माल फरसे पर धार रखने लगा देख के कि कोई आ रहा है लेकिन वो भी बहुत चौंका क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पर कोई चलता ही नहीं ये कौन ना समझ उसको भी दया आने लगी कौन ना समझ मरने आ रहा है उसने गौर से देखा गैरिक वस्त्र अरे उसने सोचा कोई सन्यासी गया बेचारा काम से इसको कुछ पता नहीं है गांव के लोगों ने भी बताया नहीं मालूम होता ऐसा सोचने लगा फरसे पर धार रखी जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा उसे दया आने लगी उसने अपने मन में सोचा अंगुली माल तुझे हो क्या रहा है ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई तेरी माँ भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था ये तो कौन है अपनी क्या जान क्या पहचान लेकिन कुछ होने लगा बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी वो तरन्यम बुद्ध की वो शांति बुद्ध की वो हवा बुद्ध की वो सुगंध बुद्ध की कुछ करने लगी जब वो थोड़ी दूर रह गए तो अंगुली माल चिल्लाया उसने कहा कि रुक जाओ वहीं अगर आगे बढ़े तो खतरा है ये फरसा देखते हो ये अंगुलियां देखते हो मैं अंगुली माल हूं मेरा नाम सुना गर्दन काट के अंगुलियों की माला बना लूंगा और मेरा व्रत पूरा करना है मुझे और कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े कोई और आता भी नहीं मगर तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ न मालूम कैसे कमजोरी का क्षण है मेरा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूं भाग जाओ लेकिन और करीब मत आओ मैं आदमी बुरा हूं जरा भी आगे मत चलो बुद्ध ने का पागल मेरा चलना तो कई वर्ष हुए तब बंद हो चुका जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया सब चलना भी गया अब कहा चलना मैं तो ठहरा हुआ हूं मैं तुझसे कहता हूं तू चलना बंद कर अंगुली मानने का मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए तुम पागल हो चल तुम रहे हो चलते हुए को कहते हो कि चलता नहीं और मैं बैठा हुआ फरसे पे धार रख रहा हूँ और मुझको तुम कहते हो कि चलते हो तुम्हारा दिमाग खराब है अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो बुद्ध ने कहा ठीक है मगर मैं तुझसे फिर कहता हूँ सोच ले मैं रुका हुआ हूँ तू चल रहा है तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है यहाँ वहाँ दौड़ता है इसलिए मैं कहता हूँ तू चलता है खैर बुद्ध पास आ गए अमूल ईमान ने कहा अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं मुझे शक होता है कि हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो जिनकी मैंने खबरें सुनी क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझे कहा कि कैसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई भी बदल ना सकेगा हो ना हो तुम वही हो मगर भूल जाओ मैं भी अंगुली माल हूं अपनी तैयारी कर ले फरसे पर धार रखने में बैठो वो बैठ गए शांत वो फरसे पर धार रखता है क्योंकि कई साल से कोई आया नहीं जो फरसे पर जंग चढ़ गई वो बार बार देख लेता है इस आदमी को बात क्या है उसका दिल बड़ा पिघला जा रहा है इस आदमी को बड़ा प्रेम आया जा रहा है इस आदमी की तरफ बड़ा लगा हुआ जा रहा है वो डर रहा है थोड़ी देर करने लगा सर से धार रखने में को और थोड़ी देर की ले इस आदमी का सांस बड़ा प्यारा है फिर मर जाएगा फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा और देर रखने लगाने लगा बुद्ध ने कहा मुझे लगता है तुम जरा देरी लगा फरसे पर धार रखो उंगली माल तुम अपना काम करो मुझे मेरा काम करने दो ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते अंगुली माल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो तुम मरने पर तत्पर हो आत्महत्या करने की तुमने सोच रखी लेकिन उसका दिल बदल गया है फरसे पे धार बेमन से रख रहा है सिर्फ धार भी पूरी हो गई फिर उसने कहा बोलो क्या विचार है बुद्ध से पूछता आप क्या विचार बुद्ध ने कहा विचार की संभावना का विचार तो मैं छोड़ ही चुका उंगली मार और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं और जो मैं हूं उसे कोई भी मार नहीं सकता कौन फरसा मुझे खेल सकेगा अंगुली माल ने आंख में आंख डालकर देखा इस आदमी को मारना असंभव है लेकिन फिर भी जिद पुरानी पुरानी आदत वो अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया उसने कहा ठीक है दो आदमियों की जिद अटकी तुम बुद्ध हो मैं उंगली माल हूं इतनी जल्दी हार नहीं जाऊंगा मगर ये क्यों मेरा दिल कमजोर हुआ जाता क्यों मेरी छाती बैठी जाती मैं तुमसे पूछता हूँ बुद्ध ने कहा इसका कारण है मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुली माल ये तो बच्चे कर सकते तू देखे सामने वृक्ष इसकी शाखा काट के मुझे दे दे उसने फरसे से शाखा काट दी बुद्ध ने कहा अभी से तू वापस जोड़ दे उसने कहा ये कैसे हो सकता है तो बुद्ध ने कहा काटना मारना तो बहुत आसान है जोड़ के कोई आदमी महान बनता है काट के कोई महान बनता है अब तो मेरी गर्दन काट दे बात खत्म हो गई मगर याद रख जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का तुझे हक नहीं और जोड़ तो कुछ बात हुई तो दुनिया तुझे याद रखेगी फरसा उसने फेंक दिया वो बुद्ध के चरणों में गिर गया वो अंगली माल बुद्ध का भिक्षु हो गया उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए उल्टा अंगुली माल मारा गया तो खुद सम्राट अजात शत्रु उसे देखने आया क्योंकि अजात शत्रु के तो प्राण कपते थे वो आया और उसने कहा कि बनते मैंने सुना है अंगुलिमाल भिक्षु हो गया विश्वास नहीं आता अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है ये मुझे विश्वास नहीं आता मैं मान ही नहीं सकता इसमें कुछ अफवाह में झूठी बात है बुद्ध ने कहा आप माने या न माने ये पास जो भिक्षु बैठा कौन वो बुद्ध के पास ही बैठा पंखा कर रहा था ये सोच के ही कि ये अंगुली माल है अजासत ने अपनी तलवार निकाल ली उसने कहीं खतरनाक आदमी है कोई धोखाधड़ी की हो बैठा हो बन के भिक्षु और एकदम हमला कर दे बुद्ध ने कहा तू तलवार भीतर रख तलवार की कोई जरूरत नहीं सकती ये अंगुली माल वो अंगुली माल नहीं ये और ही हो गया तो जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया जैसा भिक्षु को जाना पड़ता था तो गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए दुकानें बंद हो गई लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए और कहते हैं जब अंगुलीमाल बीस सड़क पर था तो लोगों ने उसे पत्थर मारे कायर कमजोर लोग अंगुलिमाल बीच में खड़ा रहा उसके सिर पर पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा और अभी तरुण ने जो मंत्र पढ़ा ना बुद्धम शरणम गच्छामी वो इसे दोहराता रहा बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी ऐसा कहते कहते ही वो गिर गया बुद्ध को खबर मिली वो आए आखिरी घड़ी थी बुद्ध ने उससे कहा अंगुली मान तेरा क्या भाव है उसने कहा आप और पूछते ठहरे हुए का क्या भाव रुके हुए का क्या भाव तेरे मन को कुछ हुआ मान अंगली मानने का नहीं कुछ भी नहीं हुआ देखता रहा साक्षी था अंगली मानने का होता भी क्या मैं देखने वाला हूं दृष्टा हूं यही तो आपने समझाया बुद्ध उससे बोले अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होके मर रहा है तू ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होके मर रहा है तू अर्थ को उपलब्ध हो गया तू अरिहंत हो गया ऐसा जब माल मर गया तो और भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध को बनते माल मरकर कहा उत्पन्न हुए बुद्ध ने कहा भिक्षुओं मेरा वह पुत्र परिनिवृत्त हो गया परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है अब उसका जन्म नहीं होगा वो जन्म मरण के पार हो गया है अब वो वापस नहीं लौटेगा बनते भिक्षुओं ने कहा इतने मनुष्यों को मारकर भिक्षुओं को भरोसा न आया ऐसा पापी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया हाँ भिक्षु बुद्ध ने कहा सोए सोए उसने बहुत पाप किए लेकिन जाग पुण्यों से उसने उन्हें काट डाला ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा भगवान उससे तो ज्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ उसने पुण्य किए कहा बुद्ध ने कहा कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है नहीं उसे ज्यादा दिन लगे नहीं ज्यादा दिन वो जिया लेकिन जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे तब वो साक्षी बना रहा ये सबसे बड़ा पुण्य कृत्य है कर्ता होने में पाप है साक्षी होने में पुण्य है ऐसी अपूर्व बात बुद्ध ने कही और तब उन्होंने यह दूसरी गाथा कही यस पापम कतम कम्बम कुशले थी सोमन लोकम थी अब्बा मुत्तो प्राचंदिमा जिसका किया हुआ पाप उसके बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है तीसरा सूत्र अंधभूतो अयम लोको तनु के शकुंतो जाल मुक्तो वो अपो सगाय गच्छति यह सारा लोक अंधा बना